अनोशो टॉक कैवल्य उपनिषद नंबर सेवेंटीन who is without form, without comparison, Advitiya, the witness of all, beyond both existence and non existence, one attains the Supreme Self. Thus ends the Kaivalya Upanishad. O P P P. सूत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समझने की है हृदय की गुहा में स्थित मुझ परमात्मा को वही व्यक्ति उपलब्ध होता है जो निराकार को सबके साक्षी को सत असत से परे जो है उसे अस्तित्व अनस्तित्व से पार जो है उसे जानने में समर्थ हो जाता है सबसे पहले या तो कोई व्यक्ति उस परम साक्षी को जानने में समर्थ हो जाए तो हृदय की गुहा में प्रविष्ट हो जाता है और या हृदय की गुहा में प्रविष्ट हो जाए तो उस परम साक्षी को जानने में समर्थ हो जाता है उस परम सत्ता को जानने वाला हृदय की गुहा में प्रवेश पाता है या फिर हृदय की गुहा में प्रवेश करने वाला उस परम सत्ता को जान लेता है ये दो ही उपाय हैं इसलिए दो ही निष्ठाएं हैं मनुष्य की साधना की इस देश में हमने जीवन के सत्य को जानने की दो निष्ठाएं मानी है एक का नाम है सांख्य सांख्य का अर्थ है जो जान लेता है उस परम सत्ता को वो हृदय की गुहा में प्रविष्ट हो जाता है दूसरे का नाम है योग योग का अर्थ है जो प्रविष्ट हो जाता है हृदय की गुहा में वो जान लेता है उस परम सत्ता को सांख्य शुद्ध ज्ञान है योग साधना है सांख्य कहता है करना कुछ भी नहीं है सिर्फ जानना है योग कहता है करना बहुत कुछ है और तभी जानना फलित होगा और ये दोनों ही सही है और ये दोनों ही गलत भी हो सकते हैं ये निर्भर करेगा आप पर ये निर्भर करेगा साधक पर अगर कोई साधक ज्ञान की अग्नि इतनी जलाने में समर्थ हो कि उस अग्नि में उसका अहंकार जल जाए सिर्फ ज्ञान की अग्नि ही रह जाए ज्ञान ही रह जाए ज्ञाता ना रहे भीतर कोई अहंकार का केंद्र ना रह जाए सिर्फ जानना मात्र रह जाए बोध रह जाए अवेयरनेस रह जाए चैतन्य रह जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जानने की इस अग्नि से ही सब कुछ हो जाएगा जानने की ही चेष्टा को करना काफी है जानने की ही स्थिति को बढ़ा लेना काफी है जानने में ही रोज रोज अग्रसर होता जाना काफी है होश बढ़ जाए जागृति आ जाए तो पर्याप्त है लेकिन ये कभी करोड़ में एक आध आदमी को घटना घटती और जिस आदमी को करोड़ में भी ये घटना घटती है वो भी न मालूम कितने जन्मों की चेष्टाओं का फल होता है लेकिन जब भी सांख्य की घटना किसी को घटती है तो वैसे व्यक्ति को प्रतीत होता है कि सिर्फ जानना काफी है जानने से ही सब कुछ हो गया लेकिन उसके भी अनंत अनंत जन्म पीछे और अनंत जन्मों में करने की अनंत धाराएं बही सांख्य योग के विपरीत बातें करता रहा है करेगा क्योंकि जिसको भी सांख्य की अवस्था उत्पन्न होगी उसे लगेगा कि कुछ और तो करना ही नहीं पड़ता है सिर्फ होश से भर जाना काफी है लेकिन जो बेहोश पड़ा है उसे होश से भर जाना ही तो सबसे बड़ी उलझन की बात है जिसकी नींद खुल गई वो कह सकता है कि कुछ और मुझे करना नहीं पड़ा नींद खुल गई और मैंने प्रकाश का दर्शन कर लिया लेकिन जो सोया पड़ा है और सोया ही नहीं शराब पीकर बेहोश पड़ा है जहर खाकर बेहोश पड़ा है मूर्छित है उससे हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहेंगे जागो सिर्फ जागना काफी है नींद का टूट जाना काफी है कुछ करने की जरूरत नहीं और सत्य उपलब्ध हो जाएगा ये बातें भी उसे सुनाई नहीं पड़ती जो शराब पीकर पड़ा है पहले तो उसके पूरे संस्थान से शराब को अलग करना पड़े जो अभी मूर्छित है पहले तो उसकी मूर्छा तोड़नी पड़े ताकि वो सुन सके आंख खोलने की बात भी तो उसके भीतर पहुंचनी चाहिए इसलिए सांख्य की मान्यता बिल्कुल सही होकर भी काम नहीं पड़ती कभी कभी सांख्य का कोई एकाद व्यक्तित्व होता है वो सांख्य की बातें कहे चला जाता मेरे खुद की मनोदशा वैसे ही रही है सांख्य की पंद्रह वर्षों तक मैं निरंतर यही कहता रहा कि कुछ भी करना जरूरी नहीं सिर्फ होश से भर जाना काफी है निरंतर लोगों से कहने के बाद मुझे ख्याल हुआ कि उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ता वे सोए हुए नहीं हैं वे मूर्छित हैं और उनकी समझ में भी आ जाता है तो वो समझ मात्र बौद्धिक होती है ऊपर ऊपर होती है शब्द पकड़ लेते हैं सिद्धांत पकड़ लेते हैं फिर उन्हीं सब शब्दों और सिद्धांतों को दोहराने भी लगते हैं लेकिन उनके जीवन में कहीं कोई रूपांतरण नहीं होता तब मुझे दिखाई पड़ा कि सांख्य फूल है और जब फूल खिलता है तो हमें ख्याल भी नहीं आता जड़ों का जड़ें छिपी पड़ी होती हैं अंधेरे गर्द गर्त में पृथ्वी में उनका कोई ख्याल भी नहीं आता लेकिन वर्षों तक जड़ें निर्मित होती हैं पौधा निर्मित होता है और तब कहीं फूल खिलता है शायद फूल ये कह सके कि खिल जाना काफी है बस खिल ही जाना है और क्या करना है और हवाओं में सुगंध बिखरनी शुरू हो जाती लेकिन फूल का खिल जाना एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है जब फूल खिलता है तो सारी श्रृंखला भूल जाती है जब फूल खिलता है तो सारी श्रृंखला छिप जाती है अंतिम फल जब आता है तो उस फल के आच्छादन में सब कुछ विस्मृत हो जाता है जो लंबी यात्रा है तब तो मुझे लगना शुरू हुआ कि फूल खिल गया हो तब तो ठीक है ये कहना कि फूल खिल जाना काफी है लेकिन फूल ना खिला हो तो किसी से ये कहे चले जाना कि फूल खिलना काफी है खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति जड़ों को संभालने के लिए जो कर सकता था वो भी नहीं करेगा और पौधे को बड़ा करने के लिए जो कर सकता था वो भी नहीं करेगा और पौधे की संभाल जो रखनी थी वो भी नहीं रखेगा अब तो वो भी ये सोचेगा उसकी बुद्धि में भी यही विचार चक्कर काटेगा कि खिल जाना काफी है खिल जाएंगे और खिल भी नहीं पाएगा क्योंकि खिलना एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है वो लंबी श्रृंखला योग है कृष्णमूर्ति के साथ यही भूल पूरे जीवन से चल रही है वे लोगों से कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है लोग समझ भी लेते हैं वैसी ही समझ जिससे ना समझी मिटती नहीं सिर्फ छिप जाती लोग समझ भी लेते हैं कि कुछ करना नहीं तो जो कर रहे थे वो भी छोड़ देते हैं और कृष्णमूर्ति जिस फूल के खिलने की बात कर रहे हैं वो फूल भी नहीं खिलता है तो बड़ी दुविधा में पड़ जाते मेरे पास न मालूम कितने लोग उन्हें सुनने वाले जो वर्षों से चालीस वर्ष से तीस वर्ष से सुनते हैं उन्होंने मुझे आके कहा कि हम बड़ी मुसीबत में मुसीबत यह है कि हमारी समझ में ये बात बिल्कुल आ गई कि करना कुछ भी नहीं ये हमारी समझ में इतनी आ गई है कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते कुछ करते हैं फौरन ख्याल आता है कि करना तो बेकार है वो फूल तो बिना किए ही खिल जाता है वो तो निष्प्रयास से खिलता है अप्रयत्न से खिलता है इफर्टलेस है उसमें कोई साधना की जरूरत नहीं है ये हमारी समझ में बहुत गहराई से आ गई अब हम कुछ कर भी नहीं सकते जो करते थे वो भी छूट गया है और ना करने से कृष्णमूर्ति जो कहते हैं होगा उसकी कोई झलक भी नहीं मिलती वो फूल कहीं खिलता हुआ दिखाई भी नहीं पाता दुविधा उनके चित्त में घनी हो गई क्योंकि अभी वे उस जगह नहीं पहुंचे थे वृक्ष की जहां फूल अपने आप खिलता है शायद वे भी जड़े ही हैं सिर्फ या शायद अंकुरित ही हुए थे या सिर्फ शाखाएं निकली थी पत्ते आने शुरू हुए थे अब वे कुछ भी करने को राजी नहीं पानी भी सींचने को राजी नहीं एक बागुड़ का घेरा भी लगाने को राजी नहीं है कि पौधे की रक्षा हो सके अब वे सूरज की तरफ उठ के सूरज को पीने की भी आकांक्षा नहीं रखते और प्राण बेचैन है फूल खिलता नहीं फूल खिलने के लिए आतुर होना चाहता है भीतर प्राणों में फूल की की पीड़ा है प्रकट होने की लेकिन कुछ करना नहीं है तो एक तरफ सांख की ये दुविधा है कि सांख फूल की बात करता है और कठिनाई खड़ी होती दूसरी तरफ योग है योग जड़ों की भूमि की पानी की सूरज की गहन खोज करता है लेकिन तब एक खतरा वहां भी घटित होता दिखाई पड़ता है और वो खतरा यह है कि आदमी क्रियाओं में ही लीन हो जाता है जिस फूल के खिलने के लिए क्रियाएं शुरू की थी वो फूल तो भूल ही जाता है क्रियाएं इतनी संलग्न कर लेती हैं कि ऐसा लगता है इन क्रियाओं को करते जाना ही जीवन क्रियाएं पकड़ लेती हैं पतंजलि ने योग के आठ अंग कहे हैं जिनमें अंतिम तीन अंग धारणा ध्यान समाधि महत्वपूर्ण है बाकी पांच उनकी तरफ ले जाने वाले प्राथमिक चरण हैं समाधि फूल है से सात उसका वृक्ष है लेकिन अक्सर योगी आसन प्राणायाम ही जीवन भर करते रहते जीवन भर वही करते रहते समाधि का फूल तो भूल ही जाता है ये क्रियाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती साधन साध्य बन जाते हैं मार्ग ही मंजिल मालूम होने लगता है सांख्य की भ्रांति यहां खड़ी होती है कि मंजिल ही इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है कि मार्ग की कोई जरूरत ही नहीं और योग की भ्रांति यहां खड़ी होती है कि मार्ग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मंजिल भी छोड़नी पड़े मार्ग के लिए तो हम मार्ग को ही पकड़ेंगे मंजिल को नहीं पकड़ सकते क्रियाओं से ग्रस्त आदमी के सामने अगर परमात्मा भी खड़ा हो तो वो कहेगा थोड़ी देर रुको मैं पहले पूजा पाठ कर लू योग की एक भ्रांति भी ये भ्रांति भी हजारों लोगों को भटकाती क्रियाएं ही सांख्य की भ्रांति तो कभी कभी पैदा होती है क्योंकि सांख्य का व्यक्तित्व तो कभी कभी पैदा होता है इसलिए बहुत लोग उस झंझट में नहीं पड़ते कृष्णमूर्ति जिंदगी भर से बोलते हैं लेकिन हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता कि पांच हजार लोगों से ज्यादा उनको सुनने और समझने वाले लोग और ये पांच हजार भी वही लोग हैं जो तीस साल से निरंतर उनको सुने जा रहे हैं इनकी जिंदगी में कहीं कोई क्रांति घटित होती मालूम नहीं होती हां शब्द इनके पास आ जाते हैं क्रांतिकारी शब्द इनके पास आ जाते और ये उनको दोहरा के दोहरा दोहरा के जीने लगते हैं और रोज रोज इनको खटका भी लगा रहता है कि वो बात भीतर घटित नहीं हुई है वो फूल खिला नहीं लेकिन योग की भ्रांति ज्यादा व्यापक है क्योंकि पृथ्वी के अधिकतम लोग जब भी धर्म में उत्सुक होते हैं तो तत्काल क्रिया में उत्सुक हो जाते हैं स्वाभाविक है क्योंकि बिना क्रिया के आदमी जिंदगी में कुछ भी तो नहीं पाता तो धर्म को भी पाएगा तो क्रिया से ही पाएगा जैसे धन पाया जाता है प्रयास से वैसा ही धर्म भी पाया जाएगा परमात्मा को भी पाना है तो कुछ करके ही तो पाना होगा ये तर्क सामान्यतः समझ में आता है लेकिन खतरा इसका दूसरा अधूरा हिस्सा इसका खतरा है और वो ये कि ये सब क्रियाएं इतने जोर से मन को ग्रसित कर लेती हैं और मन क्रियाओं में इतना रस लेता है कि फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है मंजिल खो जाती है मार्ग पकड़ जाता है इस हृदय की गुहा में पहुंचने के लिए किया क्या जाए तो मैं आपसे कहता हूं सांख और योग को दो निष्ठाएं न समझकर एक ही निष्ठा के दो अंग समझें योग को प्राथमिक और सांख्य को अंतिम समझे योग को वृक्ष और सांख्य को फूल समझे इसलिए मैं आपको इन दोनों का इकट्ठा जोड़ देता हूं सांख्य योग करना तो पड़ेगा कुछ क्योंकि जैसे हम हैं वहां बिना किए नहीं हो सकता लेकिन यह भी ध्यान रखना कि अगर करना ही करना रह गया तो भी वो घटना नहीं घटेगी करना बहुत कुछ पड़ेगा और एक क्षण सब करना छोड़ भी देना पड़ेगा जैसे कोई सीढ़ी पे चढ़ता है तो चढ़ता भी है और फिर छोड़ भी देता है जैसे कोई दवा लेता है तो बीमारी ठीक हो जाती है तो दवा छोड़ भी देता है जैसे कोई मार्ग पे चलता है और मंजिल आ जाती है तो मार्ग छोड़ ही देता है छोड़ क्या देता है मार्ग का मतलब ये होता है कि जिसको हमें प्रतिपल छोड़ते चलना है मार्ग का मतलब ये होता है मंजिल की तरफ बढ़ने का मतलब है मार्ग को छोड़ते चलना है रोज रोज मार्ग को छोड़ते चलना है ताकि मंजिल करीब आती चली जाए मंजिल मार्ग पर चल के करीब आती है उसका मतलब ही यह है कि मार्ग को छोड़कर करीब आती एक कदम मैं चला एक कदम मार्ग मैंने छोड़ दिया तो एक कदम मंजिल करीब आ गई मार्ग पर चलना भी पड़ता है मार्ग को पकड़ना भी पड़ता है मार्ग को छोड़ना भी पड़ता है तो ही मंजिल आती है लेकिन हमें दो में से एक आसान लगती है बात कि अगर मार्ग को छोड़ना ही है तो पकड़ना क्यों यही सांख्य की भूल बन जाती और या फिर हमारी समझ में आता है कि जिसको एक बार पकड़ लिया उसे क्या छोड़ना जब पकड़ ही लिया तो पकड़ ही लिया तो निष्ठापूर्वक उसको पकड़े ही रहेंगे फिर छोड़ेंगे इससे योग की भूल पैदा होती सांख्य योग दोनों निष्ठाएं साधक को ध्यान में रहे तो हृदय की गुफा बहुत शीघ्रता से मिल जाती जो भी ध्यान के हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें दोनों का संयोग है सुबह के चार चरणों में तीन चरण योग के हैं चौथा चरण सांख्य का है और तीन चरण इसलिए योग के हैं और एक सांख्य का है क्योंकि हमारा व्यक्तित्व का तीन चौथाई हिस्सा सोया पड़ा है और एक चौथाई ही मुश्किल से थोड़ा सा चेतन है तो तीन चौथाई तो हमें श्रम करना पड़ेगा और एक चौथाई हमें विश्राम करना पड़ेगा तीन चौथाई मार्ग के लिए और एक चौथाई मंजिल के लिए ध्यान रखना तीन चरण ध्यान के प्राथमिक तीन चरण पहले तीन चरण वस्तुतः ध्यान नहीं है केवल मूर्छा को तोड़ने की तैयारी मूर्छा टूट जाए तो चौथा चरण ध्यान का फलित हो सकता है और ख्याल रखना कि तीन तो आपने किए चौथा आप करेंगे नहीं चौथा होगा चौथे में आप सिर्फ विश्राम कर रहे हैं चौथे का अर्थ है कि आप अपने को खुला छोड़ रहे हैं कुछ घटता हो तो हम द्वार बंद नहीं रखेंगे कुछ घटता हो तो हम तत्पर हैं कुछ उतरता हो तो हमारे भिक्षा पात्र उसे झेलने को राजी है कुछ आता हो तो हम बाधा न डालेंगे हम ग्राहक हैं चौथे में सब तरफ से खोले जो भी बरसेगा हमारी तरफ से कोई रुकावट न होगी अगर उसकी किरण आएगी तो हमारे दरवाजे बंद नहीं पाएगी स्वागत का भाव लिए हम द्वार पर खड़े हैं ये चौथे का मतलब है तीन में हमने कुछ किया है चौथे में कुछ हो इसकी प्रतीक्षा है तीन में प्रयास है चौथे में प्रतीक्षा है चौथा सांख्य का हिस्सा भूल ये होती है कि कुछ लोग चारों को सांख्य का हिस्सा बना लेते हैं कुछ लोग चारों को योग का हिस्सा बना लेते हैं तब हृदय की गुहा का खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस सूत्र में दो बात जो उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उसकी हृदय की गुहा खुल जाती है जिसके हृदय की गुहा खुल जाए वो उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो हम दोनों को दोनों तरफ से ठीक से समझ लें उसके ज्ञान को हम कैसे उपलब्ध हो जाएं उसका ज्ञान कैसे घटित होगा इस पूरे केवल उपनिषद में जगह जगह मैंने आपसे बात की है कि ज्ञान को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि आपकी प्रत्येक क्रिया सजगता पूर्वक होने लगे अमूर्छित होने लगे ज्ञान को बढ़ाने का और कोई उपाय नहीं आमतौर से ज्ञान को बढ़ाने का उपाय हमें दिखता है शास्त्र सिद्धांत शब्द वो ज्ञान को बढ़ाने का उपाय नहीं है वो सिर्फ स्मृति को बढ़ाने का उपाय है और स्मृति और ज्ञान में फर्क है स्मृति का अर्थ है दूसरे का जाना हुआ उधार ज्ञान का अर्थ है अपना जाना हुआ निजी निज जिसको हम ज्ञान का बढ़ना कहते हैं हम कहते हैं फला व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है तो अक्सर हमारा मतलब होता है बहुत जानकारी बहुत बड़ी स्मृति शास्त्र कंठस्थ है गीता कंठ में वेद मुखाग्र है ये ज्ञान नहीं है ये स्मृति है और स्मृति कोई बहुत बहुमूल्य चीज नहीं है यांत्रिक है यंत्र भी स्मृति रख लेते हैं और जल्दी ही यंत्र ही स्मृति रखेंगे आदमी ये बोझ यंत्रों पर छोड़ देगा ज्ञान बड़ी दूसरी घटना है मेरा जाना हुआ मेरी प्रतीति मेरा अनुभव मेरा दर्शन जिसे मैंने ही जिया और चखा है मेरा स्वाद किसी और की दी गई खबर नहीं ज्ञान आत्म साक्षात्कार है सीधा न बीच में शास्त्र न सिद्धांत तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए अध्ययन मार्ग नहीं है ज्ञान को बढ़ाने का मार्ग जागरण है जितना ही मैं जागू अपनी क्रियाओं में उतना मेरा ज्ञान बढ़ेगा जगेगा जागने का अर्थ है जो भी मैं कुछ करूं वो इतनी तीव्रता से ध्यानपूर्वक हो कि उसमें मूर्छा जरा भी ना रहे कभी एक छोटा सा प्रयोग करें तो आपको पता चलेगा कि मूर्छा कितनी गहरी है कभी अपनी घड़ी को देखें उसमें सेकंड का कांटा है तय कर लें कि एक मिनट तक सेकंड के कांटे को होशपूर्वक देखेंगे एक मिनट ज्यादा बड़ी बात नहीं है एक चक्कर सेकंड का कांटा पूरा लगाएगा होशपूर्वक देखेंगे होशपूर्वक का मतलब आपको समझा दूं ताकि आपको प्रयोग आसान हो जाए ये जो कांटा सेकंड का घूम रहा है इसको भूलेंगे नहीं एक मिनट तक याद रखेंगे ये सेकंड का कांटा जा रहा है जा रहा है जा रहा है ये साठ सेकंड पूरे करेगा एक मिनट आप चकित हो जाएंगे कि साठ सेकंड में कम से कम तीन बार आप चूक जाएंगे भूल जाएंगे कि क्या देख रहे कोई और ख्याल आ जाए कोई और बात आ जाएगी मन कहीं एक क्षण को छिटक जाएगा कम से कम तीन बार बीस सेकंड भी खींचना मुश्किल है जागृत भाव को तब आपको पता चलेगा कैसी मूर्छा है मैं साठ सेकंड तक एक कांटे के घूमने को भी स्मरण पूर्वक नहीं देख सकता हूं कि देखते वक्त मुझे याद बनी रहे कि मैं देख रहा हूं कांटा घूम रहा है कांटा घूमता रहेगा एक सेकंड को आप चुप जाएंगे तब आपको फिर से याद आएगा कि मैं भूल गया तब तक आप देखेंगे कांटा दो चार सेकंड आगे जा चुका उतने गैप उतने अंतराल में आप कहीं और चले गए होश यहां ना रहा ऐसे कोई भी काम कर रहे हो तो होश पूर्वक करने की कोशिश करें अलग से समय देने की कोई जरूरत नहीं है भोजन कर रहे हैं तो होश पूर्वक करें भोजन चबा रहे हैं तो होश पूर्वक चबाएं किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई साधना में लगे सांख्य की साधना का पता भी नहीं चलता सांख्य की साधना का कोई पता नहीं चलता कि कोई साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है योग की साधना का पता चलता है क्योंकि उसमें बाहर की क्रियाओं से प्रयोग करना होता है सांख्य की तो अंतर क्रिया है श्वास चल रही है इसका ही ख्याल रखें बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया बुद्ध ने बहुत जोर दिया है इस पर कि आदमी चल रहा है बैठा है उठा है लेटा है एक चीज तो सतत चल रही है घड़ी के कांटे की तरह श्वास उसको देखते रहे श्वास भीतर गई तो होश पूर्वक भीतर ले जाएं श्वास बाहर गई तो होश पूर्वक बाहर ले जाएं चूके ना मौका एक भी श्वास बिना जाने ना चले थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि आपका ज्ञान बढ़ने लगा ये श्वास पर जितना आपका ध्यान सजग होने लगेगा उतना आपके भीतर ज्ञान बढ़ने लगेगा अगर आप घंटे भर भी ऐसी स्थिति बना लें कि जब चाहें घंटे भर श्वास को आते जाते देख लें और कोई बाधा ना पड़े तो सांख का दरवाजा बिल्कुल निकट है धक्का ही देने की बात है और खुल जाएगा बुद्ध ने श्वास पर अनापान सती योग श्वास के आने जाने का स्मृति योग इस पर सारी सारी दृष्टि बुद्ध ने इस पर खड़ी की है बुद्ध कहते थे इतना ही कर ले भिक्षु तो और कुछ करने की जरूरत नहीं ये बहुत छोटा काम लगेगा मालूम आपको लेकिन जब घड़ी के कांटे पर देखेंगे और 60 सेकंड में तीन दफे चूक जाएंगे तब पता चलेगा कि श्वास की इस प्रक्रिया में कितनी चूक हो जाएगी लेकिन शुरू करें तो कभी अंत भी होता है प्रारंभ करें तो कभी प्राप्ति भी होती है ये एक अंतर क्रिया है ये राम राम जपने से ज्यादा कठिन है क्योंकि राम राम जपने में होश रखना आवश्यक नहीं आदमी राम राम जपता रहता है यंत्रवत होश रखना आवश्यक नहीं है और तब ऐसी हालत बन जाती है कि वो काम भी करता रहता है राम राम भी जपता रहता है उसे ना राम राम का पता रहता है कि मैं जप रहा हूं जप चलता रहता है यंत्रवत हो जाता है इसलिए अगर राम राम भी जपना हो तो राम राम जपने में दोहरे काम करने जरूरी है जप भी रहे और जप का होश भी रहे तो ही फायदा है नहीं तो बेकार है तो बहुत लोग जप कर रहे हैं और व्यर्थ है उनके जप ने उनकी बुद्धि को और मंदा कर दिया है तीव्र नहीं किया और उनके ज्ञान को बढ़ाया नहीं और घटाया है इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि राम राम जपने वाले रामचदरिया ओढ़े हुए लोग बुद्धि के मामले में थोड़े कम ही नजर आएंगे ज्ञान उनका जगता हुआ नहीं मालूम पड़ता और जंग खा गया हुआ मालूम पड़ता है जंग खाई जाएगी बुद्धि क्योंकि बुद्धि का वो जो बोध है वो जो ज्ञान है वो सिर्फ जागरण से बढ़ता है कोई भी क्रिया अगर मूर्छित की जाए तो घटता है और हम सब क्रियाएं मूर्छित कर रहे हैं उसी में हम राम जब भी जोड़ लेते हैं वो भी एक मूर्छित क्रिया हो जाती बजाय एक नई क्रिया जोड़ने के जो क्रियाएं चल रही हैं उनमें ही जागरण बढ़ाना उचित है और अगर राम की क्रिया भी चलानी शुरू कर दी हो तो उसमें भी जागरण ले आए कुछ भी करें एक बात तय कर लें कि उसे जाग के करने की सतत चेष्टा जारी रखेंगे आज असफलता होगी कल असफलता होगी कोई चिंता नहीं है लेकिन हर असफलता से सफलता का जन्म होगा और अगर अब ख्याल जारी रहा और सतत चोट पड़ती रही तो एक दिन आप अचानक पाएंगे कि आप किसी भी क्रिया को समग्र चैतन्य में करने में सफल हो गए जिस दिन आप इस चैतन्य में सफल हो जाएंगे उस दिन सांख्य का द्वार खुल गया और कुछ भी जरूरी नहीं है और कोई बाहरी क्रिया जरूरी नहीं है अंतर गुहा में प्रवेश हो जाता तब तब हम जान लेते हैं अपने भीतर के साक्षी को क्योंकि ये जागरण की क्रिया साक्षी की क्रिया है जब मैं जाग के कुछ करता हूं तो मैं साक्षी हो जाता हूं करता नहीं होता जब भी मैं सोकर कुछ करता हूं तभी मैं करता होता हूं और साक्षी नहीं होता कुछ भी जाग कर करें भोजन कर रहे हैं जाग कर करें तब आप भोजन करने वाले नहीं रह जाएंगे भोजन की क्रिया को देखने वाले हो जाएंगे रास्ते पे चल रहे हैं जाग कर चले तो आप चलने वाले नहीं रह जाएंगे जो चल रहा है उसके आप दृष्टा और साक्षी हो जाएंगे तो जागरण की क्रिया बढ़ती जाए तो आपके भीतर साक्षी विकसित होता जाएगा जिस दिन आपके भीतर साक्षी पूरी तरह कर्ता से मुक्त हो जाएगा कर्ता की खोल बिल्कुल टूट जाएगी और साक्षी का अंकुर पूरा बाहर निकल आएगा उसी दिन इस सूत्र का जो एक हिस्सा है वो आपके ख्याल में आ जाएगा मेरे लिए भूमि जल अग्नि वायु आकाश कुछ भी नहीं है वही मनुष्य मेरे शुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है जो मायक प्रपंचों से परे सबके साक्षी सत असत से परे निराकार हृदय की गुहा में स्थित मुझ परमात्मा को जान लेता है ये सांख्य का ज्ञान का मात्र ध्यान का मार्ग है भीतर का साक्षी ख्याल में आ जाए तो वो परम साक्षी तत्क्षण ख्याल में आ जाता है क्योंकि हमारे भीतर का साक्षी उस परम साक्षी का ही फैला हुआ हाथ है जैसे कोई एक छोटी सी पत्ती वृक्ष पर होश से भर जाए कि मैं कौन हूं तो क्या आप सोचते हैं उसी क्षण से पता नहीं चल जाएगा कि पूरा वृक्ष भी वही है क्योंकि पत्ती सिर्फ वृक्ष का फैला हुआ एक छोटा सा अंग है अगर पत्ती जग जाए और उसे पता चल जाए मैं कौन हूं तो उसे यह भी पता चल जाएगा कि वृक्ष कौन है क्योंकि मैं और वृक्ष में तब कोई फासला नहीं होगा ये मेरे भीतर जो छिपा हुआ प्रकट हो रहा है ये उसी विराट का फैला हुआ हिस्सा है उसी का एक हाथ है अगर मैं भीतर जाग जाऊं अपने साक्षी के प्रति तो तत्क्षण मेरे लिए वो विराट साक्षी भी अनुभव का हिस्सा हो जाता है तो हृदय की गुहा में जाने का एक तो मार्ग है ज्ञान प्रगाढ़ होता जाए प्रखर होता जाए तीव्र होता जाए और ऐसी क्षण आ जाए कि ज्ञान की अग्नि जागरण ही रह जाए और भीतर इस जागरण का कोई अहंकार केंद्र ना हो दूसरी बात ख्याल ले लें इस संबंध में जितनी मूर्छा होती है उतना बड़ा अहंकार होता है जितना जागरण होता है उतना बड़ा साक्षी होता है और साक्षी और अहंकार में कोई संबंध नहीं है साक्षी होता है तो अहंकार नहीं होता अहंकार होता है तो साक्षी नहीं होता वे दोनों साथ साथ कभी मौजूद नहीं होते इसलिए एक और मजे का अनुभव आप करेंगे जब किसी क्रिया के प्रति आप जाग के साक्षी बन जाएंगे तो उस क्षण में आप पाएंगे कि आप नहीं है मैं नहीं है अहंकार उस क्षण अनुभव नहीं हो सकता इसलिए बुद्ध ने तो बहुत अद्भुत हिम्मत की बात कही बुद्ध ने तो कहा कि ना अहंकार है वहां और ना आत्मा क्योंकि मैं का कोई भाव ही नहीं रह जाता तो किसे आत्मा कहें आत्मा का मतलब होता है मैं तो बुद्ध ने तो कहा कि जब पूर्ण जागरण होता है तो वहां कोई आत्मा भी नहीं वहां सिर्फ जागरण ही रह गया जागा हुआ कोई भी नहीं ये बहुत कीमत की बात है क्योंकि जागा हुआ अगर अभी है वहां और जागरण है तब भी अभी दो चीजें मौजूद रही अगर वहां कोई अभी एक केंद्र भी है जागा हुआ तो अभी दो चीजें मौजूद रही तो बुद्ध ने कहा वहां कोई जागा हुआ नहीं बस जागरण है बुद्ध का कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति जागता है तो बुद्ध नहीं होता वहां कोई बुद्धत्व होता है सिर्फ जागापन होता है इस साक्षी की अवस्था में हृदय की गुहा खुल जाती क्योंकि हृदय की गुहा पर जो पत्थर है वो अहंकार का है हृदय की गुहा पर जो बंद है द्वार वो अहंकार का है जितना सघन मेरा मैं है उतना ही हृदय सिकुड़ जाता है इसलिए कभी आपने ख्याल किया साधारण जीवन में भी जिनका जितना मैं सघन होता है उनके पास हृदय उतना ही छोटा होता है साधारण जीवन में भी उस परम अवस्था को हम छोड़ दें बुद्ध की अवस्था को छोड़ दें जहां अहंकार बिल्कुल ही नहीं होता शायद वो हमारी समझ में भी ना आए लेकिन रोजमर्रा के जीवन में दैनंदिन हम अनुभव करते हैं कि जिस आदमी का मैं जितना बड़ा होता है उसका हृदय उतना ही छोटा होता और जिस आदमी का हृदय जितना बड़ा होता है मैं उतना ही छोटा होता है इसलिए अहंकारियों को हृदय अपना काट के अलग ही कर देना पड़ता है हृदय के साथ अहंकार की तृप्ति नहीं हो सकती और जिसको हृदय की तृप्ति करनी है उसे सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देनी पड़ती हैं और सब अहंकार की यात्रा बंद कर देनी पड़ती है हृदय के मार्ग पर जाने वाला आदमी महत्वाकांक्षा के मार्ग पर नहीं जा सकता इसलिए इस जगत में बड़ी दुर्घटना घटती है कि जिन लोगों के हाथ में शक्ति हो तो लाभ हो वे लोग शक्ति के मार्ग पर नहीं जाते और जिनके हाथ में शक्ति होने से खतरा ही होगा वे ही लोग शक्ति के मार्ग पर जाते जहां जहां शक्ति है अहंकार वहां वहां जाता है जहां जहां प्रेम है हृदय वहां वहां जाता है प्रेम और शक्ति का कोई लेना देना नहीं अहंकार सिकोड़ देता है हृदय को बंद कर देता है सब तरफ से क्यों क्या कारण अहंकार को हृदय से क्या डर अहंकार को हृदय से डर है क्योंकि हृदय दूसरे से जुड़ने का द्वार है और अहंकार दूसरे से टूटने की प्रक्रिया है मैं अलग मैं भिन्न ये अहंकार की आधारशिला है और हृदय दूसरे से जोड़ता है तू से जोड़ता है अन्य से जोड़ता है और अगर हम हृदय की ही मानते चले जाएं तो समग्र से जोड़ देता है अगर हम अहंकार की मानते चले जाएं तो समग्र से तो तोड़ता ही है अंततः किसी से भी जोड़ने की हालत नहीं रह जाती आदमी बिल्कुल अलग फिर भयंकर पीड़ा भी होती क्योंकि जितना ही आदमी दूसरों से टूट जाता उतना ही जीवन से टूट जाता जितना ही दूसरों से टूट जाता उतनी जड़ें कट जाती इसलिए अहंकार अपनी पूर्ति में ही जीवन को दुख और नर्क से भर लेता है हृदय जितना दूसरों से जुड़ता है उतना आनंद से भरता चला जाता है क्योंकि दूसरों से जुड़ना जीवन से जुड़ना है और नई जड़ें खोजना है और जिस दिन हृदय परमात्मा से जुड़ जाता है अर्थात सबसे जुड़ जाता है उस दिन परम जीवन से जुड़ जाता है परम स्रोत जीवन का उस दिन उपलब्ध हो जाता है उस स्रोत को दुख का कोई पता ही नहीं पीड़ा का कोई पता ही नहीं अपने को तोड़ लेना ही पीड़ा है अस्तित्व से और अपने को जोड़ देना ही आनंद है ये अहंकार की परत या पत्थर या दीवाल सजग होते चले जाएं बिखर जाती है एक उपाय है सांख्य की तरफ से कठिन है ये सुनने में सरल समझने में सरल उतरने में बहुत कठिन है क्योंकि मूर्छा हमारी बीमारी है और जागरण का उपाय है ये और मूर्छा हमारा अभ्यास है इसलिए कठिन इसलिए कठिन है कि हमारी बीमारी ही मूर्छा है और पद्धति है ये जागरण की जाग हम सकते नहीं यही तो हमारी तकलीफ है और जागना इसमें उपाय है इसलिए बहुत मुश्किल है बहुत कठिन है तो दूसरे हिस्से से भी हम समझ लें योग की तरफ से क्या मार्ग है योग आपको जागने को नहीं कहता योग आपको कुछ क्रियाएं करने को कहता है जिनसे जागरण फलित होता है योग आपसे सीधा नहीं कहता जाग जाओ योग आपसे कहता है ये करो ये करो ये करो लेकिन वे क्रियाएं ऐसी हैं कि उनके करने से जागरण पैदा होगा जैसे जैसे बुद्ध ने कहा श्वास पर ध्यान रखो ये सांख्य की प्रक्रिया हुई योग कहता है ध्यान की फिक्र छोड़ो पहले सांस को ही व्यवस्थित करो वो प्राणायाम है ध्यान की फिक्र मत करो क्योंकि ध्यान की तुमसे आशा नहीं है लेकिन तुम तीव्र सांस तो ले ही सकते हो तो तीव्र सांस लो अब ये बहुत मजे की बात है कि जितनी धीमी श्वास हो उतना उस पर ध्यान रखना मुश्किल होगा और जितनी तीव्र सांस हो उतना ध्यान रखना आसान होगा असल में मूर्छा के लिए तोड़ने के लिए कुछ इतने तीव्र उपाय चाहिए कि आप चाहें तो भी सो ना सके आप चाहें तो भी सो ना सके इतनी गहरी चोट आप पर होनी चाहिए तो योग कहता है श्वास की तीव्र चोट करो इतनी तीव्र चोट करो कि सोना मुश्किल हो जाए मूर्छा मुश्किल हो जाए यह जान के आप हैरान होंगे कि प्राणायाम करने वाले की नींद भी कम होती चली जाती है साधारण साधारण नींद भी कम हो जाती वो गहरी मूर्छा पर चोट लगेगी लगेगी साधारण नींद भी कम हो जाती और अगर आप सतत प्राणायाम का प्रयोग करें तो नींद बिल्कुल भी समाप्त हो सकती मेरे पास लंका से एक भिक्षु को लाया गया था उसके बहुत इलाज किए लेकिन कोई उपाय नहीं बना उसकी नींद खो गई थी एक डेढ़ वर्ष से बिल्कुल खो गई थी और कोई ट्रंकोलाइजर कोई नींद की दवा नींद लाने में समर्थ नहीं होती थी सिर्फ वो सुस्त पड़ जाता था नींद तो नहीं आती थी और सुस्ती उल्टी आ जाती थी तो नींद न आने की तकलीफ अलग थी और दवाओं की तकलीफ अलग थी सुबह वो बिल्कुल लुंज पुंज उठता था और नींद तो आती ही नहीं थी तो मैं उससे पूछा कि तुम साधना क्या कर रहे हो उसने कहा कि साधना छोड़िए मुझे नींद के लिए कुछ बताइए मैंने उससे कहा कि नींद के लिए मैं तभी कुछ बताऊंगा जब मैं जान लू तुम साधना क्या कर रहे हो तो उसने कहा कि मैं अनापान सती योग का प्रयोग कर रहा हूं तीन साल से तो मैंने कहा उसे तुम्हें पंद्रह दिन के लिए बंद कर दो उसने कहा कि ये कैसे मैं कर सकता हूं तो मैंने उसे कहा कि उसकी वजह से ही तेरी नींद बिल्कुल खो गई है वो इतनी चेष्टा पूर्वक कर रहा था और इतनी तीव्र श्वास लेकर अनापान का प्रयोग कर रहा था क्योंकि धीमी श्वास में मुश्किल होता है इसलिए उसने तेज श्वास लेनी शुरू कर दी तेज श्वास को याद रखना आसान है झटके से जाएगी तेजी से जाएगी तो ख्याल रहेगा उसने इतनी तेज सांस लेनी शुरू कर दी उसकी वजह से नींद खो गई क्योंकि शरीर में कार्बन की मात्रा कम हो जाए तो नींद खो जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो नींद खो जाएगी योग कहता है कि अगर ये साधारण नींद पर चोट पहुंचती है तो उस भीतरी नींद पर भी इससे चोट पहुंचती है इसलिए कहता तुम ध्यान की फिक्र ना करो पहले प्राण को शुद्ध कर लो इतना शुद्ध कर लो कि प्राण के द्वारा मूर्छा में जितना सहयोग मिलता है वो ना मिले योग कहता है कि हमें आशा कम है कि तुम जाग सकोगे अपनी काम वासना की तरफ हम तुम्हें ऐसे आसन सिखाते हैं जिनसे तुम्हारी काम वासना की ऊर्जा नीचे की तरफ बहना बंद हो जाए और अगर तुम्हारी काम ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगे तो जागना आसान हो जाएगा क्या आपने कभी ख्याल किया है कि दुनिया में अधिकतर लोग सेक्स का उपयोग नींद की दवा की तरह करते हैं कम से कम पुरुष संभोग के बाद उनको तत्ण नींद आ जाती क्योंकि संभोग के साथ ही शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है उस क्षीण अवस्था में निद्रा जल्दी पकड़ लेती अगर कोई व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को संभोग से व्यर्थ न करे तो उसकी नींद कम हो जाएगी अगर इसकी ये नींद कम हो जाए तो उसकी भीतरी नींद को भी चोट पहुंचना शुरू हो जाएगी इसलिए ब्रह्मचर्य का जो उपयोग योग ने किया है उसका कोई काम वासना से विरोध नहीं उसका केवल काम ऊर्जा का एक अन्यथा उपयोग करना है एक विधायक उपयोग करना है लेकिन अगर कोई सिर्फ ब्रह्मचरी साधने लगे और उस ऊर्जा का अन्यथा उपयोग न जानता हो तो विकृत हो जाएगा विक्षिप्त हो जाएगा यही मैं कह रहा था कि कुछ लोग क्रियाओं से बन जाते हैं ब्रह्मचरी उनके लिए साध्य हो गया लक्ष्य हो गया कि अगर ब्रह्मचारी हो गए तो बहुत कुछ हो गए ब्रह्मचारी होने से कुछ होने वाला नहीं है ब्रह्मचारी सिर्फ प्रयोग है किसी और प्रयोग में प्रवेश करने का ऊर्जा ज्यादा हो तो व्यक्ति जाग सकेगा आसानी से ऊर्जा कम हो तो जल्दी सो जाएगा और मूर्छित हो जाएगा तो योग कहता है कि इस ऊर्जा पर हम सीधा काम करें जागरण की हम फिक्र न करें ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आप जागेंगे आपको मैं ये अभी घड़ी के लिए मैंने आपसे कहा जिस रात्रि आप संभोग में गए हो उस संभोग के बाद इस कांटे पर ध्यान रखने की कोशिश करें तो मैंने कहा तीन दफा तो आप छह दफे चुकेंगे तब आपको पता चलेगा कि शरीर की ऊर्जा का जागरण से कोई संबंध है आप दो चार दस दिन पंद्रह दिन काम ऊर्जा को नष्ट न किए हो फिर इस घड़ी पर ध्यान रखें तो हो सकता है आप एक बार भी न चूकें आपका जागरण आपके भीतर ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है तो योग कहता है जागरण को हम सीधा नहीं छूते हम आपकी ऊर्जा को बचाने की चेष्टा करते हैं आसन से प्राणायाम से प्रत्याहार से योग कहता है कि ऊर्जा प्रतिक्षण नष्ट हो रही है इंद्रियों से आप 24 घंटे देखते रहते हैं व्यर्थ भी देखते रहते हैं जब देखने को कुछ नहीं होता तब भी देखते रहते तब भी आपको नहीं सोचता कि आंख बंद कर लें बैठे हैं दरवाजे पर सड़क चल रही है उसी को देख रहे हैं लोग आ जा रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं जिस अखबार को दो दफे पढ़ चुके उसको फिर तीसरी दफे पढ़ रहे हैं जिन बातों को हजार दफे कर चुके फिर उन्हीं को कर रहे हैं वही बात रोज आप अपनी शक्ति खो रहे हैं तो योग कहता है प्रत्याहार अपनी शक्ति को बाहर मत जाने दो भीतर ले जाओ इसके दोहरे अंग हैं एक तो अपनी शक्ति को व्यर्थ मत खो आंख खोलने की जरूरत हो तो ही खोलो ओठ खोलने की जरूरत हो तो ही खोलो सुनने की जरूरत हो तो ही सुनो बोलने की जरूरत हो तो ही बोलो अन्यथा शक्ति को बचाओ और अगर एक दफा आपको ख्याल आ जाए तो आप खुद ही हैरान होंगे कि कम से कम आपके सौ में से नब्बे कृत्य व्यर्थ थे जिनको करने की कोई भी जरूरत न थी सौ में से नब्बे में कह रहा हूं इससे ज्यादा ही निकलेंगे एक दिन भी अगर आप ख्याल रख के चलें कि जो जरूरी है वही बोलूंगा तो आप पाएंगे कि दिन भर में कितना कम बोलने की आवश्यकता रह जाती और एक और दूसरे मजे की बात पाएंगे कि जो जो आप व्यर्थ बोलते थे उससे और नई झंझटें निकलती थी उनका हिसाब लगाना मुश्किल आदमी की 90 प्रतिशत मुसीबतें वो जो व्यर्थ की बातें कर लेता है उससे निकलती किसी से कुछ कह दिया फिर उसने कुछ कह दिया फिर सिलसिला जारी है फिर उसका अंत नहीं होता व्यर्थ की बातें हम सुनते हैं अगर एक आदमी मुझसे आके कहता है कि फला आदमी ने आपको गाली दी तो मैं एकदम पूरी आत्मा को जगा के सुनने लगता हूं क्या जरूरत थी गाली ही दी थी ना तो उसे कहना था कि तुमने सुन लिया ये भी बुरा किया तुम्हें तो उसी वक्त कान बंद कर लेने थे क्योंकि गाली को भीतर क्यों जाने देना और तुम मुझे किस लिए सुनाने चले आए तुम पर किसी ने कचरा फेंक दिया अब तुम मुझे और क्यों फेंक रहे हो उस पर तुम ही समझो होगी बात समाप्त हो गई व्यर्थ सुन के हम भीतर फिर काम भी तो करना पड़ेगा एक किसी ने गाली दी है उसको सुन लेने से तो निपटारा नहीं होता फिर भीतर सिलसिला चलता है फिर शक्ति व्यय होती और हम 24 घंटे अपनी शक्ति को इसी तरह व्यर्थ करते हैं तो प्रत्याहार का पहला तो नियम यह है कि हम शक्ति को व्यर्थ ना करें और दूसरा नियम यह है कि जहां जहां से शक्ति मिल सकती हो वहां वहां से लें अभी हम जहां जहां खो सकते हैं वहां वहां खोते हैं आप वृक्ष के पास बैठे हैं अगर आप वृक्ष की तरफ आंखें एकाग्र कर लें और अनुभव करें कि वृक्ष से शक्ति आपकी तरफ प्रवाहित हो रही है तो आप अपनी आंखों को ताजा करके वापस लौटेंगे आपकी आंखें ताजगी और नई जिंदगी और नया रस लेके वापस आ जाएंगे आकाश के नीचे लेटे हैं अगर धारणा करें कि आकाश से शक्ति आप में प्रवाहित हो रही तो शक्ति आप में प्रवाहित होगी अब वैज्ञानिक भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि प्राण जैसी ऊर्जा चारों तरफ व्याप्त है वृक्षों में भी पौधों में भी चट्टानों में भी आकाश में तारों में सब तरफ प्राण ऊर्जा व्याप्त है अगर हम ग्राहक हो सके तो वो प्राण ऊर्जा कहीं से भी भीतर ले जाए जा सकती योग की प्रक्रिया यह थी कि सारा जगत प्राण का एक सागर है और हम उस प्राण से जितना प्राण ले सके वो हमें लेते चलना चाहिए कभी कभी तो ऐसी घटनाएं घटी हैं कि ये प्राण लेने की प्रक्रिया इतनी आखिरी सीमा पर पहुंच गई कि फिर किसी और चीज की लेने की जरूरत ही ना रही महावीर ने 12 वर्ष में केवल तीन दिन खाना लिया है बारह वर्ष में तीन दिन का मतलब हुआ एक वर्ष कभी पंद्रह दिन खाना ले लेंगे फिर एक दिन खाना ले लेंगे कभी महीने भर खाना न लेंगे फिर एक दिन खाना ले लेंगे लेकिन महावीर की प्रतिमा आपने देखी वो कि जैनी मुनियों जैसे नहीं उन जैसी सुंदर काया खोजनी मुश्किल है उन जैसी स्वस्थ काया खोजनी मुश्किल है वैसी काया न बुद्ध के पास है न कृष्ण के पास है न क्राइस्ट के पास है न राम के पास है असल में काया का पूरा सौंदर्य तो तभी पता चलता है जब वस्त्रहीन काया नग्न खड़ी होती हमारी काया का सौंदर्य तो वस्त्र का ही होता है चेहरे को देख के हम आदमी का पूरा अंदाज लगाते हैं वो सिर्फ अंदाज है तो महावीर इतना कम भोजन लेकर इतने स्वस्थ इतने ताजे क्यों हैं योग की प्रक्रिया है महावीर की सारी साधना योग की है बुद्ध की सारी साधना सांख्य की है इसलिए बुद्ध और महावीर में बड़ा विवाद है और बुद्ध और महावीर के अनुयायियों में भारी संघर्ष है महावीर महायोगी तो उन्होंने प्राण को सीधा आत्मसात करना शुरू कर दिया कुछ लोग जमीन पर कभी कभी अचानक ऐसे हो जाते बंगाल में एक महिला थी प्यारी बाई 1930 में मरी उसने 50 वर्ष तक कोई भोजन नहीं लिया कोई पानी नहीं पिया उसके तो सारे चिकित्सकों ने अध्ययन किया विश्वविद्यालयों ने उसकी फिक्र की उस पर शोध हुए उसके पति की मृत्यु हुई पचास साल पहले बस उस दिन के बाद उसने खाना पानी नहीं लिया आकस्मिक थी यह घटना लेकिन वो परिपूर्ण स्वस्थ थी न केवल स्वस्थ थी बल्कि उसका वजन कभी नहीं घटा जितना वजन था उसका खाना बंद करने के दिन उतना ही वजन सदा रहा और चिकित्सक कहते थे कि वो पचास साल इसीलिए जी सकी अन्यथा कभी की मर जाती और कभी बीमार नहीं पड़ी हुआ क्या उसे चिकित्सक भी मुसीबत में थे कि हुआ क्या हो तो जरूर कुछ रहा है लेकिन क्या हो रहा है किसी अज्ञात स्रोत से कोई जीवन ऊर्जा उसे उपलब्ध हो रही नहीं तो जीने का कोई उपाय तो है नहीं अगर हम देखें कि दिए में बाती तो जल रही और तेल है ही नहीं तो एक ही अर्थ रह जाता है कि किसी अज्ञात स्रोत से ईंधन उपलब्ध हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता जहां से हम ईंधन पा रहे हैं जीवन के लिए वो भी अगर हम गौर से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा सूरज की किरण पौधे पे पड़ती पौधा फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूरज की किरण को आत्मसात करता है पौधे के भीतर वो सूरज की किरण आत्मसात होकर विटामिन बनती फल से हम उसे लेते तब हम उसे पचा पाते लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पौधा पचा पाता है सीधी सूरज की किरण को पौधा बीज के एजेंट का काम करता है प्राण ऊर्जा को पौधे पचाते हैं फिर हमारे पचाने के योग बनाते हैं फिर हम उनको पचा पाते हैं इसलिए हमें वनस्पति का या मांसाहार का उपयोग करना पड़ता है कोई पहले उसे पचा के निर्मित करता है और इसलिए मांसाहार में हमें दो एजेंट लेने पड़ते हैं पहले पौधा पचाता है फिर पशु उसे खाता है फिर पशु के पचाए हुए को हम पचाते हैं शाकाहारी ज्यादा वैज्ञानिक है वो कहता जब सीधा पौधे से पचाया जा सकता है तो पशु को बीच से हटा दो और योग कहता है कि आज नहीं कल अगर हम सीधे प्राण को पचाना सीख जाएं तो पौधे को भी हटा दो तो सीधी ऊर्जा को हम ले सके प्रत्याहार के दो अंग हैं शक्ति को हम खोना और जहां जहां से शक्ति मिल सकती हो उसको लेते चले जाए ऐसे योग हमारे भीतर ऊर्जा का इतना संघट निर्मित कर देता है कि उसके भीतर जागरण के सिवाय उपाय नहीं रह जाता फिर जागरण घटता है और यह जागरण वहीं पहुंचा देता है जहां सांख्य पहुंचाता है लेकिन मैं आपसे कहूंगा योग और सांख्य को संयुक्त व्यवस्था मानकर चले दोनों जारी रखें हृदय की गुहा खोलनी है दोनों जारी रखें ज्यादा गहरे परिणाम होंगे जल्दी परिणाम होंगे समय कम लगेगा शक्ति कम वह होगी एक तरफ ध्यान रखें कि जागरण बढ़ता जाए दूसरी तरफ ध्यान रखें कि ऊर्जा संग्रहित होती चली जाए योग का प्रयोग करें सांख्य पर ध्यान रखें तो एक दिन वो द्वार खुल जाएगा जिसे हृदय की गुहा कहा है इस प्रकार केवल उपनिषद समाप्त होता है केवल उपनिषद तो समाप्त हो जाना बहुत आसान है लेकिन जीवन का उपनिषद जब तक समाप्त ना हो तब तक केवल उपनिषद के समाप्त होने से क्या होगा केवल उपनिषद जहां समाप्त होता है वहीं से आपको जीवन की एक यात्रा शुरू करनी चाहिए समझने की हमने कोशिश की पर मैं आपको समझाऊं तो वो आपकी स्मृति ही बनेगी ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए जो भी मैंने यहां कहा है उसे भूलकर भी आप अपना ज्ञान मत समझना सुना हुआ समझना उधार समझना किसी ने कहा है ऐसा समझना स्मृति समझना यहां जो भी मैंने कहा है वो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं कहा है बढ़ा भी नहीं सकता हूं कोई नहीं बढ़ा सकता है यहां जो मैंने कहा है वो आपकी प्यास बढ़ाने के लिए कहा हूं ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं अगर प्यास बढ़े तो ज्ञान की घटना किसी दिन घट सकती है और अगर ज्ञान बढ़ जाए तो फिर घटना वो कभी भी नहीं घटेगी तो आप यहां से ज्ञान बढ़ा के मत लौटना आपने केवल उपनिषद समझ लिया ऐसा सोचकर मत लौटना सुना स्मृति भी बन गई लेकिन एक दुख एक घाव लेके मन में लौटना कि इसे अभी जाना नहीं एक प्यास लेके लौटना कि कब वो क्षण आएगा जब जो सुना है वो हम जान भी सकेंगे और वो क्षण ऐसे ही बैठे बैठे नहीं आ जाएगा उसके लिए कुछ करना होगा इसलिए यहां मैं एक तरफ केवल उपनिषद आपको समझा रहा था दूसरी तरफ आपको कुछ करने के लिए कह रहा था वो करना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो करना बढ़ता चला जाए तो किसी दिन ज्ञान का दिया जल सकता है हां जिस दिन ज्ञान का दिया जलेगा उस दिन जो मैंने कहा है उसकी सार्थकता ख्याल में आएगी अभी तो ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन होगा अच्छा लगेगा सुखद मालूम होगा लेकिन यह क्षण की बात है उतरेंगे आबू पर्वत से और भूल जाएगा कहीं कोई छोटी सी गूंज रह जाएगी कि कुछ अच्छी बात सुनी थी उसका कोई भी मूल्य नहीं प्यास जलती हुई प्यास जगनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये केवल उपनिषद को कहने वाले ने जाना अगर ये केवल उपनिषद को बोलने वाले ने जाना इस परम गुह आनंद की जो ये खबर दी ये जो सुषमाचार है इसे मैं भी जान सकता हूं इसे जानने की मेरी भी क्षमता है मैं भी मनुष्य हूं मेरी भी वही संभावना है जो किसी और मनुष्य की है और इसे न जानने से मैं पीड़ा और दुख और न मालूम कितने अनंत नरक भोग रहा हूं उनसे भी मुक्ति हो सकती है इसे न जानने से मैं बंधन में पड़ा हूं एक कारागृह में इसे जानने से मैं भी स्वतंत्र हो सकता हूं मैं भी उड़ सकता हूं मुक्ति के आकाश में इसे न जानने से मैं आड़ी तिरछी जड़ें भर रह गया हूं कहीं कोई फूल खिलता नहीं मालूम पड़ता कहीं कोई सुगंध नहीं उठती प्राण रिक्त रीते ऐसे जानने से मेरे भीतर भी वो फूल खिल सकता है जिसका नाम परमात्मा है वो सुगंध बह सकती है जिसका नाम स्वतंत्रता है ये केवल उपनिषद उस स्वतंत्रता की केवल खबर है संकेत है इशारा है ये केवल उपनिषद तो समाप्त हुआ ये संकेत तो समाप्त हुआ लेकिन संकेतों की सार्थकता क्या है जब तक कोई उन संकेतों पर चलना पड़े यात्रा पर ना निकल जाए तो यहां से एक प्यास लेकर लौटे लेकिन प्यास भी काफी नहीं है क्योंकि कुछ लोग प्यासे भी रहे तो भी बैठे रहते प्रतीक्षा करते हैं कोई पिला दे कोई पानी ले आए प्यास काफी नहीं है अकेली प्यास तो दिन भी कर सकती है और उदास कर सकती है उससे तो बेहतर था प्यास ही ना होती संकल्प भी चाहिए ये जो प्यास जगे तो इसकी खोज के लिए शक्ति को लगाने का संकल्प भी चाहिए एक दृढ़ इरादा भी चाहिए एक श्रद्धा और एक निष्ठा भी चाहिए तो एक संकल्प लेकर लौटे और ध्यान रखें संकल्प को जब पूरा करते हैं तभी पता चलता है कि कितनी शक्ति मेरे भीतर पूरा करने की थी जब तक पूरा नहीं करते तब तक शक्ति का भी कोई पता नहीं होता शक्ति भी अपनी शक्ति भी तभी पता चलती है जब सक्रिय होती है खुद की शक्ति का भी हमें कोई अंदाज नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं जब तक कि हम करते ही नहीं करके ही पता चलता है कि हम कितना कर सकते हैं और जितना ज्यादा हम करते हैं उतना ही पता चलता है कि और भी ज्यादा कर सकते हैं हर एक कदम उठते ही दूसरे कदम को उठने की शक्ति उपलब्ध हो जाती और एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील का रास्ता तय कर लेता तो संकल्प करके लौटे हैं और संकल्प को सक्रिय बनाएं छोटा ही सही यहां से बहुत से मित्र सन्यास लेकर लौट रहे हैं ये सन्यास का लेना एक संकल्प बने संकल्प का अर्थ है ये सन्यास 24 घंटे स्मरण रहने लगे उठते बैठते चलते बोलते बात करते स्मरण रहने लगे इसका स्मरण अंतर ला देगा अगर कोई गाली दे तो पहले स्मरण करना कि मैं सन्यासी हूं फिर उत्तर देना उत्तर दूसरा होगा सिनेमा की खिड़की के पास टिकट की कतार में खड़े हों खीसे में हाथ डालने के पहले पहले स्मरण करना मैं सन्यासी हूं फिर खीसे में हाथ डाल के टिकट खरीदना सिगरेट हाथ में आ जाए और जलाने का मन हो तब पहले सोच लेना मैं सन्यासी हूं फिर पीना पीने की मना ही नहीं करता सिनेमा जाने की मना ही नहीं करता शराब पीने की मना ही नहीं करता गाली देने की मना ही नहीं करता चोरी करने की मना ही नहीं करता बेईमानी की मना ही नहीं करता सिर्फ एक आपको बात कहता हूं कि कुछ भी करना पहले याद करना कि मैं सन्यासी हूं फिर करना फिर ना हो सके तो मेरा कोई उसमें हाथ नहीं इसलिए आपको रंग बदलने के लिए जोर देता हूं कि वो आपको स्मरण दिलाएगा आपका नाम बदलता हूं कि आपकी पुरानी श्रृंखला से संबंध टूटेगा एक नए केंद्र के आसपास नया व्यक्तित्व निर्मित होगा तो लौट के कुछ करना वो करना ही आपको योगी बना देगा ध्यान सीखा है बहुत मित्र हैं यहां ध्यान कर जाते हैं यहां अनुभव भी होता है प्रीतिकर भी लगता है कहीं ऊर्जा जाती हुई भी मालूम पड़ती है फिर शिविर के बाद श्रृंखला टूट जाती तो दोबारा जब शिविर में फिर आते हैं फिर आवास से शुरू होता है ऐसे तो जन्मों जन्मों तक शिविर में आ जा सकते हैं परिणाम नहीं होगा यहां तो हम सीखते हैं सिर्फ इस सीखे हुए को करना है लौटकर करेंगे तो दूसरे शिविर में आप दूसरे आदमी आएंगे बदल के आएंगे और तब दूसरे शिविर में सात दिन आपको और ही गहराई में ले जाएंगे ये गहराई अनंत है छोटे मोटे अनुभव से तृप्त मत हो जाना प्रकाश दिखाई पड़ जाए सुखद है अनुभव लेकिन तृप्त नहीं हो जाना है आनंद भी मालूम होने लगे तो भी सुखद है तृप्त नहीं हो जाना है परमात्मा की उपस्थिति भी मालूम होने लगे कीमती है लेकिन तृप्त नहीं हो जाना है उस समय तक तृप्त होना ही नहीं है जब तक कि स्वयं और परमात्मा में रत्ती भर का भी फासला है तब तक तृप्त नहीं होना है जिस दिन स्वयं का होना परमात्मा का होना हो जाए या परमात्मा का होना स्वयं का होना हो जाए जिस दिन हृदय की गुहा में छिपे हुए परमात्मा का उद्घाटन हो जाए अनावरण हो जाए उस समय तक तृप्त नहीं होना है तब तक खोदते ही जाना है ध्यान से स्वयं को तब तक साधते ही जाना है योग से स्वयं को तब तक निखारते ही जाना है सांख से स्वयं को तो एक दिन जरूर घटना घटती है वो घटना बिल्कुल ही सुलभ है हाथ के भीतर है पर हाथ बढ़ाना चाहिए जीसस ने कहा खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि जन्मों जन्मों तक द्वार पर बैठकर खटखटाते भी नहीं जीसस ने कहा मांगो और मिल जाएगा लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि उसके सामने ही खड़े रहते हैं और मांगते भी नहीं यहां से उसके द्वार को सतत खटखटाने का संकल्प लेकर लौट तो जो केवल उपनिषद आज शब्दों में समाप्त हो गया है वो एक दिन किसी दिन आपके जीवन में भी समाप्त हो सकता है for these eight days we were here doing something very strange I say it is strange because human mind goes on asking for things of the world but never never of something concerned with the inner being. We go on desiring for objects but never for our own self. That's why I say we were here doing something very strange. Not asking for things, not asking for riches, not asking for any object of the world, but asking for the inner being not asking anything concerning concerning any utility concerning any utilitarian object but asking and desiring something of pure being which is not a utility at all. Not going out but coming in. That's why I call it strange. And it was still more strange because for these eight days we were not only asking we were doing something and doing madly. This phenomena has become rare. It was not rare in the past. A Buddha was moving, and thousands and thousands of seekers were around him, doing very strange things, going on a very strange journey. A Jesus was there, a Mahavir was there, Zarathustra was there, a was there, and many, many people were deeply involved in knowing who am I. And now, this question has become absurd. If you ask who am I, your neighbors will feel that you have gone mad. Everyone knows who he is. There is no need to ask. But really, no one knows who he is. And there is a very deep need to ask it. But only asking will not do. You have to penetrate in. You have to break many barriers. And you have to put aside many hindrances. You have to transform your energy to make it capable to move into a new dimension, the dimension of the inner. So we were doing here something strange and very madly. And it was good to see so many people so deeply involved with themselves. Ordinarily, we are involved with others, even sometimes madly, but no one is involved with oneself. That is the last thing to be searched. That is the last thing to be asked. That is the last thing to be inquired. But here, for these eight days, we were after our own self. Whatsoever you have learned here, it is only a beginning. You have to continue it. You have to continue it consistently, persistently. No interval, no gap should be allowed. Mind is very cunning. If you give it a gap, all that you have learned will be washed away. Unless a certain point is reached where energy transforms, everything can go back. It is just like heating waters up to a certain point it becomes hot water but it can come back unless it evaporates unless it evaporates it can come back and become cold again we have also such points inside unless the energy passes through those points those chakras it it will fall down again so you have to be aware if you have begun something then go on doing it go on digging in go on continuously unless you feel now something has changed and you have come to a point of no return the energy cannot fall back. How you can know that your meditation has come to a point of evaporation? There are certain signs which, which make you aware. One, the more your meditation goes deep, less and less you will feel the burden of the mind. More and more meditation goes deep, you will be less and less a mind. Thoughts will become rare and ultimately they cease. That doesn't mean you become unthinking. It only means that your consciousness becomes clear, transparent, without thoughts, as clouds moving continuously. Whenever you need to think, you can think. But now thought becomes an instrument to you, not an obsession as it is presently. Thought is an obsession without meditation. They go on in their own right you cannot stop them. You cannot say them, now you are not needed. They move and you have you have to be in them. You are not the master. More meditation will go deep, you will become master of your own thoughts. You say stop and the mind stops. You say move and the mind begins to move. Once this capacity comes to you, you will not fall down again. Unless this is achieved, if you discontinue meditation, soon every result will be washed away. Secondly, the more meditation goes deep, you will feel less and less desires. More and more contentment with whatsoever you have less and less desire for that which you don't have and more and more content with whatsoever you have deeper meditation goes and a very contented consciousness evolves ultimately there is no desire only contentment they are contraries contradictories more desires than less content. Less desires than more contentment. No desires, absolute content. When you feel this deep down, there is no desire. Every movement of the mind has ceased. Desire is the movement of the mind. When thought cease, desire cease. When desire cease, thought ceases. Because both are movements. And a non-moving mind, quite at ease in itself, relaxed, centered in oneself, is the point from where your energy evaporates transforms into a different dimension. Unless this mind is achieved, you remain into the world in the bondage. When you pass this point, transcend this point, you enter into another. The Kavali Upanishad was concerned with that another world, the world of the beyond. This sutra says that you can know the divine hidden deep in the cave of the heart you can know two other ways to know one if you go on becoming more and more aware more and more a witness and less and less a doer then you can know that hidden in the heart reality. This path is known as Sankhya, the path of knowledge, path of knowing, or the path of awareness. Make awareness a continuous process. Whatsoever you are doing, do it with an alert mind do not do it sleepily. We are doing everything as if asleep. You are listening to me. You can listen in two ways. You can listen as if you are asleep. Then you will hear the words but not the meaning. Then your ears will go on working, buzzing, but your consciousness will be absent. You can listen alertly, with full awareness, with a intensity of awareness, with consciousness, with a focused mind. If you listen with a focused mind, alert, conscious, aware of what is going on, then not only the words but the meaning can also be heard words don't carry meaning they become meaningful only when you are alert your alertness gives them meaning words carry only sounds if you are not alert then your ears will hear but your consciousness will remain untouched by being alert, I mean whatsoever is going on is going on with full consciousness. You are knowing that this is going on. Buddha walks. He walks differently. The quality is different. Outwardly, you may see that he is walking as anyone else, but he walks differently because each step is an alert step. He knows it. When he is raising his leg, he knows it. When he raises his hand, he knows it. When he moves his head, he knows it. No movement of the body and no movement of the mind without being conscious of it. So Buddha has said, and he was the, one of the most deeply gone in the path of knowing, one who has touched the ultimate on the path of knowing, path of awareness. He has said that no other means, methods, techniques are needed if you can practice only awareness. But then it is hard because we are so asleep that to talk about awareness is just the polar opposite to us we are just asleep not only asleep but unconscious not only unconscious but as if in a coma you have been angry without knowing when the anger has come you have been violent without knowing when the violence has come I have heard many people say that I can't say why I became so angry. I became angry in spite of me. How is it possible? In spite of you, you became angry? It means you were not conscious. Buddha has said, if there is anger, close your eyes. Feel the anger arising Feel the anger clouding you. Feel the anger coming up. Go on seeing it. Do not do anything with it. Go on seeing it. Then by and by it will evaporate. Then see it evaporating. First see it coming, arising, spreading, then see it going away, dying, evaporating. Once you have seen the anger in all its stages, you will be never angry again. Because anger needs your identification. You must be identified with it. You must not be conscious of it. So Buddha has said, if you are doing something unconsciously, it is sin. If you are doing it consciously, it is virtue. There is only one difference between virtue and sin. Consciousness or unconsciousness makes the difference. This is one path to enter into the innermost reality of the heart, or into the beyond, or into the Param Brahma. There is another that other one is not directly concerned with awareness that other path is known as yoga the path of means methods techniques the other is not directly concerned with awareness it is directly concerned with some methods which create awareness you are not required to be aware directly, immediately. You are required to do something which creates a situation in which you become aware. For example, we have been doing in the morning, in the night, two yogic methods. If you do fast breathing vastrika so chaotically, the energy inside is hit the energy comes up. In that awakening of energy, you cannot fall asleep. You cannot be unconscious. So much energy makes you aware. Then in the second step, allowing yourself to go completely mad. and understand it. When you yourself allow yourself to go completely mad, you can never be mad. Because madness can never be allowed, it happens. So if you can allow yourself to go completely mad, it shows that you are a very sane person. A madman cannot allow a madman is just mad. Madness happens to him. It is not his will, it is against his will. But if you can will madness and allow madness, you will be saner for two reasons. One, that you are capable of allowing madness. You are above it. You are master of it. And secondly, if you allow it, then many, many suppressed complexes will be released through it. It will be a catharsis. When so much suppressed complexes are released, when so much suppressed energies are released, it is an explosion. In that explosion, you can never be unconscious. It is such a big explosion as if your house is on fire. How can you be unconscious? you will become suddenly conscious. Your whole mind has gone mad. Your house is on fire. You become suddenly aware. It is an emergency. You cannot fall asleep. Awareness will happen in this situation. And in the third step, when we were hitting the Kundalini with who, Kundalini is the reservoir of all our energies. If this reservoir is hit, the energy begins to spread in ripples all over the body. It goes on spreading. Every fiber, every cell of the body becomes more alive, vitalized. More energy is given to it. Every cell becomes more aware and the whole body feels a sudden rush of awareness. In that rush of awareness, you cannot be unconscious. These three steps are yogic steps to create a situation in which awareness becomes an automatic result. And then in the fourth, you just wait, fully aware, conscious waiting what is going to happen in this awareness happens that which is known as brahma in this awareness happens that which is hidden in the cave of the heart sankhya and yoga are two ways i have made both in one three steps of the morning meditation are of yoga and the fourth of Sankhya. In the night meditation, the beginning, gazing constantly, hammering your energy with who and jumping belongs to yoga and the last part belongs to Sankhya. In the afternoon meditation, the kirtan belongs to yoga Bhakti yoga, it belongs to yoga, it is a means, it again creates energy in you, it again makes you a situation, makes you a situation in which awareness can happen. Then in the second stage, we are waiting. And then in the third, whatsoever has been felt we are expressing. To me, religious life it is not only experience but also creativity. You must know the divine and you must express it also. Because then, when it is expressed, it can create the same thirst in others also. When expressed, it can hit others' sleeps also. It can make them aware of a different dimension also. When someone is dancing madly in a blissful state, in ecstasy, after meditation, he is creating vibrations around him. They may penetrate into anyone. They can become infectious They become. This ecstasy can go to others also. This ecstasy can be felt. Others' heart will be touched by it. And if you can create around you ripples, vibrations, you have served the world and there is no other way to serve it. You have served the divine and there is no other way to serve it. This last sutra says that here ends the Kavali Upanishad. The Upanishad ends, of course, but your journey only begins. When you go back, remember whatsoever you have done here and felt and make a continuity of it if you have taken sannyas if you have renounced deeply the nonsensical world the absurd world and have taken a step towards the real towards the truth, then, then continuously you will have to remember your renunciation. This remembering will help to change everything around you and inside. Just remembering that now you are a sannyasin will make lot of a difference. You cannot react in the same old ways because you are not the old man. That's why I have given you new names just to make you feel and remember that the old identity is dead. A new one has come into existence. And now you have to create your mind, your body, your soul around this new center, sannyas must become now yourself. Do, live, be, but now from this new center. And soon, if you continue in your efforts, in your awareness, you will come to a point where the transformation, the mutation happens, where you are lost forever and only the divine remains.